निजात का इन्हसार ना तुम्हारी आरजुओं पर है और ना अहल किताब की आरजुओं पर जो बुरा काम करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा और वो अपने लिए अल्लाह के सिवा ना ही कोई हिमायती पाएगा और ना ही कोई मददगार